स्त्री शक्ति एक उपासक ईश्वर को महान अपना माता पिता मान करके वह प्रार्थना करता है मंत्र में वायु शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया गया है ऋषियों की परंपरा को नहीं जानते नहीं समझते वे लोग वेद मंत्रों का अर्थ ठीक नहीं कर पाते ये दोष बीच के काल में रहा तो वायु शब्द से यहां ईश्वर का ग्रहण होता है किसी बात को समझाने के लिए उपमा दी जाती है अथवा दो वस्तुओं के गुण समान रूप में बता करके या दो वस्तुओं में दो गुण समान रूप से रहते हों उसका वर्णन उसके माध्यम से होता है वायु में एक ऐसा गुण है जो कि बहुत उथल पुथल मजा देता एक बार दिल्ली में चक्रवात जिसको बोलते हैं वो आया था आपने सुना हो कभी है जी तो उस समय वो गंदा नाला है वहां से निकला था और मैंने देखा ये पेड़ तो बहुत पतले हैं इतने मोटे मोटे पेड़ों का मूल मूल रह गया इतना दे इतना बल वायु और जब समुद्र में तूफान आता है तब देखो जिन जहाजों को समुद्र में निमग्न कर देता है वो कितनी बड़ी बड़ी होती है हजारों लोग जिसमें बैठ सकते हैं और सात सात मंजिल की लगभग होती है और वो जो तूफान आता है तो उसका कोई पता नहीं चलता कहां आप ध्यान दें जैसे वायु इतना महान इतना बलवान है ईश्वर जो है वह वायु की भांति वायु जैसे कितना बल और वेग वाला है ईश्वर इतना बलवान है सारे संसार को धक्का देके चला रहा है या चलाता है बनाता है ऐसे आप सुन लेते हैं कहने वाले कह देते हैं जस्ता कम होगा आपको आप अपने आप में कर लो ऐसे दिमाग में ये बात बैठनी कठिन है कि जैसा तूफान हलचल मचा देता है समुद्र में भगवान भी हलचल मचाता होगा ऐसा दिमाग में कम बैठता होगा हाँ जी नहीं बैठता भगवान को ईश्वर को समझने के लिए जीव को समझना उपयोगी होता है अच्छा देखो ये आत्मा ने पुस्तक पर रख दिया रख दिया ना है जी अब मैं इसको उठाऊंगा ये ये किसने उठाया बताओ परमात्मा ने ना है जी जीवात्मा ने उठाया अच्छा अच्छा अब मैं नहीं उठा तभी तो ईश्वर उठा देगा उठाएगा क्या लोट हुआ दे ईश्वर ने नहीं वो अलग बात है यहां पर हाथ उठाने का सीधा मेरा काम है पहले आपने सुना था शक्ति तो ईश्वर देता है भाई इस काम के करने में मैं स्वतंत्र हूं ये दोनों का समन्वय होता है तो इतना समझना शक्ति तो ईश्वर ही दी है इसमें वाद विवाद नहीं है पर अब शक्ति देने के पश्चात मैं स्वतंत्र ये प्रयोग अच्छा बुरा मैं करूंगा शक्ति ईश्वर ने ही दी है मेरी परंतु ये हाथ तो ईश्वर ने दिया हाथ में नाड़ी भी लगाई पर अंदर से इसको कौन प्रेरणा देकर उठा रहा है अच्छा वो आत्मा जो है किससे उठा रहा है इसको अंदर अंदर आत्मा के हाथ है क्या अंदर तो हाथ नहीं है ना जैसे बिना हाथों के परमात्मा वो जीवात्मा हाथ को उठा रहा है वैसे बिना हाथों के ईश्वर भी संसार का संचालन करें कुछ तो समझ पाई बिना हाथों के भी काम होता है ये जैसे ये हुआ ये हाथ उठा है अंदर मेरे पेट में हाथ नहीं है पर जीवात्मा उसको उठा रहे हाथ बिना हाथों के हाथ को उठा रहे ईश्वर भी बिना हाथों के सारी शक्ति को धक्का देता और संचालन करता किसी ने कहा कि भाई बात यह है जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई वो ईश्वर है कोई यदि ईश्वर है और सृष्टि बनाना उसका हेतु है तो हमको ये बता दो ईश्वर सर्वव्यापक है हां सर्वव्यापक है और बिना हिले जुले काम कैसे करेगा यदि हिले जुलेगा नहीं तो काम नहीं होगा हिलता जुलता सर्वव्यापक तो नहीं है समस्या खड़ी हुई या नहीं हुई है जी हो गई या फिर दोहराऊंगा आप देखो यदि हिलता जुलता है तो क्रिया होगी जो काम बनेगा कुमार घड़ा बनाता देखा आपने हम्म। कुमार नु शू गए से <laughs> वो घड़े को बनाता है आप देखेंगे वो डंडा होता है एक चाक होता है एक मिट्टी होती है और एक धागा काटता है जिसे घड़े को और ऐसे ऐसे वो लोथड़ा रख देता है फिर उस डंडे को से खूब घुमाता है घुमा के डंडे को रख देता है फिर ऐसे उसमें हाथ डालता है जो आप पानी पीते हो फिर ऐसे करता है ऐसे बिना क्रिया के तो काम है अब भगवान हिले जुलेगा कैसे वो तो व्यापक है नहीं हिले जुलेगा तो आंख नाक कान और सृष्टि को कैसे बनाएगा माताओं में से कोई उत्तर दे तो दे पुरुषों में तो नहीं बोलना अब देखो उत्तर नहीं बन ना इसका मतलब ईश्वर को नहीं समझे कैसे जैसे उदाहरण दो हाँ, हाँ वो याद रहेगा मुझे <laughs> कहां से याद करके आइए पता नहीं सुन लिया होगा तो उसमें आप देखेंगे कि भाई उदाहरण क्या बनता है यहां सुई को यहां रखो चुंबक को रखो चुंबक को दौड़ लगाने की जरूरत है क्या चुंबक खींचते समय क्या हिंदा चलता है सुई को चारों ओर सुई रख दो सारी सुइयों को खींच के चिपका लेगा और रहेगा बिल्कुल नहीं एक बात अब दूसरी बात लेना दौड़ धूप स्थानांतरित होकर के साधनों को उठाना क्रिया करना एक देशी को जरूर है सर्वदेशी को दौड़ धूप करने की कुमार ने डंडा उठाया डंडे के पास कुमार नहीं था नहीं समझे आप जो जी मिट्टी उठाई मिट्टी के पास कुमार नहीं था नहीं आ रही समझ में रात को अधिक रोटी तो नहीं खा ली है अब भी नींद आ रही हो किसी को हाँ कई बार सोचते हैं कि आज रात को नींद निकली नहीं है सारा हम नींद निकालेंगे तो दौड़ धूप की आवश्यकता एक देशी पदार्थ को होती है बाहर क्रिया दौड़ धूप की सर्वव्यापक को अपेक्षा नहीं होती इसलिए यह विषय गंभीर है पर जब तक व्यक्ति ये नहीं समझ लेता कि ईश्वर में बल है ईश्वर क्रिया देता है तब तक वो ठीक ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता विश्वास ही नहीं है उसको मन में जब विश्वास नहीं तो उपासना किस बात की विदेशी लोग वैज्ञानिक लोग ईश्वर की उपासना इसलिए नहीं कर रहे उनको विश्वास ही नहीं है क्योंकि वो यंत्र से दिखता नहीं उसमें क्रिया नहीं होती वो माने किस आधार पर है कहते माने किस आधार पर ईश्वर है ये उनके बस में नहीं आ रही बात तो वायु आया ही वायु हो वायु नाम परमात्मा का है आया ही आप हमको प्राप्त हो जाओ वैसे भारत में तो जिस किसी को देखो अब भी ये भावना है वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए गाय छोड़ नहीं सकता और भगवान को प्राप्त करना चाहता गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं हम जब देखते हैं दस वर्ष का बालक भाग रहा है बच्चे कहां जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के और बूढ़िया और बूढ़ा जो चल नहीं सकते ना उसको मुद्दे की तरह ले जाते प्यार देने कंधे बना देते प्यार पाई सी बनी हुई होती है, है? और कहते माता बुढ़िया कहां जा रही हो भगवान के दर्शन करने जा रही सीधी भगवान का दर्शन करेगी ना यम नियम का पालन करना <laughs> सीधी भगवान का दर्शन करेगी वो आप ये देखेंगे कि भावना तो ठीक थी फिर वो ईश्वर को नहीं समझ पा रहे आया ही दर्श तमह तो कहते हैं कि आप देखने के योग्य हैं दर्श समय अर्थात ध्यान देना कि दूसरी भूल क्या होती है व्यक्ति भगवान को रूप में देखना चाहता है ये उसके दिमाग में गलत बात बैठती है अभी अभी एक अपने साधक से चर्चा चला दी कि लगभग ऐसा शब्द था कि भगवान को किस रूप में देखें मैंने कहा ध्यान रखो जितनी दुनिया में पदार्थ है सब में रूप नहीं है और भौतिक वैज्ञानिक लोग यहीं रुके हुए हैं वो ये मानते हैं कि जिसमें रूप हो वो तो पदार्थ वस्तु और जिसमें रूप ही नहीं है वो चीज नहीं है ये भूलो अरे आपकी भी इच्छा रहती होगी हम भगवान को रूप में देखें ऐसे रहती है ना प्राय जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं ना वो कहते हैं कोई आकार प्रकार में दिखाई दे तो कृत्य हो जाए यही तो उनके मन में है ऐसा उनके विचार में बैठी हुई बात है मन से नहीं निकल रही ये बात वो इसलिए नहीं निकल रही उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना रूप के भी पदार्थ होते हैं रूप रहित पदार्थ होते ये दिमाग में नहीं बैठ रही वैज्ञानिक लोग इसलिए भटके हुए हैं वहां से कि जिसमें रूप हो भार हो तरलता हो लंबाई चौड़ाई हो यंत्रों से जाना जाए वो चीज है वो पदार्थ है उसके ऊपर हम विचार करेंगे शायद अपने आएंगे एक वैज्ञानिक जो हमसे मिलते रहते यहां पर आपको वैज्ञानिक दिखाएंगे तो वो बताते रहते एक दिन ये चर्चा आखड़ी हुई हम बातचीत कर रहे थे हमने पूछा आप अपने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर को क्यों नहीं स्वीकार करते वो ऐसे सामूहिक रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप में वो मानते हैं अपनी अपनी मान्यता है पर जैसे भूमि है पृथ्वी है जल है बिजली है गैसे हैं पता नहीं कितनी चीजें हैं उनको वैज्ञानिक क्षेत्र में मानते हैं उनकी खोज करते हैं उन्हीं का मूल्य अंकित करते हैं समझे आप मेरी बात ईश्वर को अपने क्षेत्र में मान करके ईश्वर को स्वीकार करके कोई उसको मूल्यांकन नहीं करते स्वतंत्र रूप से कोई वैज्ञानिक मानते हैं मानने वाले माने हमने जब ये बात पूछी कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते उन्होंने कहा कि ईश्वर का लाभ क्या है जो लाभ ही नहीं तो क्यों आप खाम खा उसको अच्छे क्रम में रखें उसकी परीक्षा दिलाएं उत्तीर्ण होना जरूरी है ईश्वर के विजय में इसलिए ईश्वर के विजय में तो एक अंक जाने की जरूरत नहीं आज ध्यान देना हमने कहा यदि ईश्वर का हम लाभ बताएं तो कभी हां फिर तो ईश्वर पर विचार किया जा सकता हमने कहा देखो लौकिक चीजों से आनंद मिलता है जीवन मिलता है व्यक्ति सुरक्षित है ईश्वर से इनसे अधिक आनंद मिलता है ईश्वर के जानने से आप क्यों नहीं स्वीकार करें फिर लोग जो है उसमें रूप देखना चाहते हैं यदि रूप है ही नहीं तो रूप से कैसे जानेंगे ईश्वर को कभी नहीं जान सकते आप देखिए प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ रूपवान है हाँ जी तो मेरा जी क्या समझी अब देखो सोने की तैयारी करनी थी क्या हाँ बोलो भाई ये बताओ रूप किन में है जो प्रकृति और प्रकृति की चीजें बनी उनमें रूप हो सूक्ष्म और स्थूल हो या अलग बात है परंतु ईश्वर और जीव दो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें रूप नहीं है है ही नहीं यदि रूप से ही पदार्थ माने जाएंगे तो ईश्वर और जीव की तो सत्ता धोगी नहीं इसलिए ईश्वर में बल है आत्मा में भी बल है ईश्वर में आनंद है ईश्वर में ज्ञान है ये गुण है इसलिए वो द्रव्य है पदार्थ है तो इसलिए कहा एक बात और आई है इसमें ईश्वर दर्शन करने योग्य है और ये उत्तम उत्तम पदार्थ है हम आपके सामने समर्पित करते ये ईश्वर प्रणिधान का भाव है पर इसमें एक शब्द आया बड़ा उलझा हुआ जैसा पा ही ही पान करो ईश्वर पीता है क्या खाता है क्या मंदिरों में नहीं देखा आपको भोजन बनाते हैं और थोड़ा सा इतने चावल उठा के रगड़ देते हैं ये भगवान को भगवान को भोजन नहीं करवा दिया तो भगवान को भोजन खाता है पीता है भोग लगा दिया और दूध से स्नान कराते हैं भगवान का दूध से स्नान फिर अच्छी अच्छी वो चीज पढ़ाते भगवान कपड़े भी पहनता है बहुत अच्छा करते हैं एक वहां बना रखे उसके ऊपर वो बना रखी है ऐसे जैसे ये और ऊपर पंखा लगा रखा और ऊपर फिर बिजली लगा रखी तो भगवान बिजली के नीचे रहता है पंखे के नीचे रहता कपड़े ओढ़ता है और जब फट जाते हैं तो ऐसी हो के भाइयों भगवान के कपड़े फट गए <laughs> तो भगवान के कपड़े सिलवा दो और बेचारा नंगा रहता भगवान अब यहां पर पाही का अर्थ है पान करना नहीं है उनकी रक्षा करो और स्वीकार करो दो भावना है हमने आपकी आज्ञा के अनुसार चीजें कमाई है धन संपत्ति आपका है हम आपके समर्पित करते हैं समर्पित करने का अर्थ है आपकी आज्ञा के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं ये समर्पित करना आपके दिए हुए हैं आपके मान करके आपकी आज्ञा के अनुसार समर्पित करते हैं इनको स्वीकार करो और हमको पात्र समझ के अपना लो इसलिए भगवान खाता पीता नहीं अब विराम